चित्त स्थिर हो जाने पर यह कैसे समापत्ति सम्यक आपत्ति आलम्बनाकारापत्ति आपत्ति चित्त ग्राह्याकार हो जाए किस रूप है किसी को विषय करे इस सूत्र में था क्षीण वृत्ति के मय ग्राहित ग्रहण ग्राहित तत्त जनता समापत्ति चित्त क्षीण वृत्ति क्षीण होने पर अभिजात मने विव सत्समने के समान ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य ग्रहिता ग्रहण इंद्रिय ग्राह्य से उसमें चित्त चित्त तस्थ जो चित्त ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य चित्त जो चित्त उस चित्त का तदंजनता का तदाकार था चित्त तदाकार हो जाए ग्रहित्री आकार ग्रहणाकार ग्राह्याकार चित्त भी तदाकार हो जाना यही समापत्ति इसमें पहले ग्राह्य आलम्बन उपरक्त चित्त ग्राह्याकार हो जाता है ये पहले बताया ग्राह्य भी विषय दो प्रकार है भूत सूक्ष्म उपरक्तम भूत सूक्ष्म समापन्नम भूत सूक्ष्म है तन्मात्रा स्थूल भूत महाभूत है तो भूत सूक्ष्म भूत तन्मात्र को विषय करने वाले चित्त तदाकार होगा भूत सूक्ष्म स्वरूपाभास होगा तथा स्थूल आलम्बन उपरतम महाभूत को आलम्बन करने वाले महाभूत ही आलम्बन उससे विपरत संबद्ध चित्त सदाकार स्थूल रूप समापन हो जाएगा स्थूल रूपाभाषण भवती इसी प्रकार विश्व भेद उपरतम अलग अलग जितने भेद है तद उपरतम चितम विश्व भेद समापन विश्व रूपाकार हो जाएगा ये ग्राह्याकार कहा टीका में ग्राह्य सर्वता कारण निर्भाषते ग्राह्य प्राग सूक्ष्म स्थूलताभ्याम विभजते भूत सूक्ष्म का विश्वभेद उपरोक्तम विश्वभेद चेतना चेतन स्वभाव चेतन और अचेतन गवादि घटादित्य गवादि चेतन घटादि चेतन तदन वितर्क विचारानुगत समाधि दर्शित वितर्क अनुगत समाधि विचारानुगत समाधि दोनों बताया तथा ग्रहणेश इंद्रिय इति आगे भाष्य में ग्रहण स्वी इंद्रिय स्वपी द्रष्टव्य ग्रहण का अर्थ हो गया इंद्रिय ग्रहण का तो ग्रह धातु से लूट करेंगे तो भाव में करें तो ग्रहण ज्ञान होता है कर्ण में करेंगे तो गृह से अन्य ग्रहण इंद्रिय हो जाएगा टीका में दिया है गृहते रहता इसे ग्रहणान जिनके द्वारा अर्थ का ग्रहण होता है वो ग्रहण है इंद्रिय इंद्रिय को ग्रहण शब्द से कहा एक तदेव स्पष्ट है इसका स्पष्टीकरण भाष्य में ग्रहण सु इंद्रिय ग्रहण आलम्बन उपरोक्तम ग्रहण ही इंद्रिय ही आलम्बन उससे उपरोक्त संबद्ध चित्त ग्रहण आकार हो जाएगा ग्रहण में समापन ग्रहण आकार को प्राप्त करेगा सम्यक आपत्ति समापत्ति सम्यक आलम्बन आकार हो जाना ग्रहण ही आलम्बन तदाकार चित्त हो जाएगा ऐसे चित्त ग्रहण कारण निर्भाषते इंद्रिय स्वरूपाकारण चित्तम भान होता है यहाँ पर हुआ ग्रहण टीका में ग्रहणम च आलम्बन च तदिति ग्रहण आलम्बनम ग्रहणम च तद आलम्बन च ग्रहण आलम्बन में ग्रहण ही आलम्बन है उससे पर चित्त तो ग्रहण आलम्बन कर्मधारा उससे ऊपर का तो अनुबुद्धम उसे संबद्ध चित्त आत्मीयम अंतकरण रूपम अपिधाय ग्रहणमिव बहिकरणमिव आपन्नमिति अंतकरण का जो रूप है उसको उठा करके इंद्रिय का समान बहिकरण के समान अंतकरण तो अलग बहिकरण भी अंतकरण का रूप जिसको ढक करके अं, मन चित्त बहिकरण जैसे हो जाता है तदन आनंदानुगतम उक्तवा ये आनंदानुगत समापति आज अस्मितानुगतम आह अस्मितानुगत ग्रहित्री पर सूचित होगा तथा ग्रहित्री पुरुष आलम्बन उपरक्तम ग्रहिता ही पुरुष है कोई आलम्बन है उससे उपरक्त संबद्ध चित्त ग्रहित्री पुरुष समापनम ग्रहिता ज्ञाता जो पुरुष है उससे तदाकार हो जाएगा चित्त ग्रहित्री पुरुष स्वरूपा कारण निर्धाषते चित्त जिस ध्येय का ध्यान करेगा चित्त से एक ध्यान करते करते सदाकार हो जाना ध्येय विषयाकार कभी इंद्रिय धारणा ध्यान करते तदा इंद्रियाकार कभी ग्रहित्याकार ऐसे तदाकार निर्भाषते जिस प्रकार स्वच्छ मणि के पास जो पदार्थ रक्त नील आदि पुष्प आदि रखेंगे मन तदाकार हो जाता है इसे दिखता है ठीक इस प्रकार चित्त में ये अभ्यास करके स्थिति पद को प्राप्त करने पर स्थिर होने पर जिसमें जिस आलम्बन में चित्त को लगाए चित्त तदाकार हो जाएगा वही समापत्ति है उसमें ग्रहित ग्राह्याकार ग्रहणाकार ग्रहित्याकार इसका टीका में अस्मितास्पद में ही ग्रहिता ग्रहित जो ज्ञाता है पुरुष अस्मिता का विषय दृश्य एकात्मता एवं अस्मिता है पुरुष है कि भाव ग्रहिता पुरुष है अहम इसे का ज्ञान का विषय होता है पुरुषत्व अविशेषाद अन्य मुक्त भी पुरुष सुख प्रहलाद आदि समाधि विषयतया संग्रहित पुरुषत्व विशेषा जो मुक्त अपित पुरुष है यह सांख्य योग में चेतन जीव को पुरुष शब्द से कहते इस तरह भी पुरुष विशेष है क्लेश कर्म विशाखाते रतानुष्ट पुरुष विशेष वो भी ईश्वर है पुरुष मुक्त पुरुष भी पुरुष है पुरुषत्व विशेषाद अनैन मुक्त भी पुरुष जो मुक्त हो गए सुख प्रहलाद आदि प्रहलाद आदि उनके विषय करके चित्त में ध्यान करेंगे समाधि विषयता संग्रह उसको भी ग्रहण करना चाहिए भाष्य में तथा मुक्त पुरुषालम्बन उपरक्षम मुक्त पुरुष समापन्नम मुक्त पुरुष स्वरूपाकार में निर्भाषते मुक्त पुरुष ही आलम्बन उससे उपरत संबद्ध होगा चित्त चित्त उसका ही चिंतन करते करते सदाकार हो जाएगा मुक्त पुरुष समापन मुक्त पुरुष आपना तदाकार होकर स्थित हो जाने से मुक्त पुरुष स्वरूप कारण चित्त निर्भर कर चित्त ऐसे भान होता है प्रकाश होता है ठीक है नहीं उपसंहरण तस्थ तदंजनता पदम व्याचे तो सूत्र का उपसंहार करते हुए तस्थ तदंजनता समापत्ति तस्थ तदंजनता तत्शब्द से ग्रहित ग्रहण ग्राह्य रहना तेज स्थितम इति तस्थम ग्रहित ग्रहण ग्राह्य में स्थित चित्त को तस्थ का तस्थ से चित्त से तदंजन का तदाकार का ग्रहित्रकार ग्रहणाकार ग्राह्यकार इसके इसकी व्याख्या भाषा में तदेव अभिजात मणिकल्प से चेतसु अभिजात स्वच्छ मणि के समान चेत है शुद्ध है ग्रहित ग्रहण ग्राह्य सुख तत्तम ये तत्व से ग्रहित ग्रहण ग्राह्य होना तेज स्थित तिष्ठति तस्थ पुरुष इंद्रिय भूतेषु पुरुष इंद्रिय और भूत भूत हो गया ग्राह्य ग्रहण से क्या लेना इंद्रिय और ग्रहित हो गया पुरुष ग्रहित ग्रहण ग्राह्य से अर्थ करते पुरुष इंद्रिय भूतेषु पुरुष में इंद्रिय में भूत में स्थित अभिचित या तस्थ तदन जनता तस्थस्य चित्तस्य तदंजनता तेज तिष्ठति तस्थम चित्तम तस्य चित्त से तदंजनता उसका अर्थ क्या तेज स्थित तस्य चित्त से तेसु स्थित से चित्त से तदंजनता का तो तदाकार आपत्ति ग्रहित्याकर ग्रहणाकर ग्राह्याकर चित्त हो जाएगा उसको समापत्ति कहते सा समापत्ति उच्यते टीका में ते ग्रहित ग्रहण ग्राहित स्थित स्थित धारित से धारणा करके मन को उसमें लगा करके ध्यान करने पर ध्यान परिपाक अवसाद अपहत रजस्तम मल से चित्त सत्व से पहले धारणा धारित धारणा का विषय हुआ ग्रहित ग्रहण ग्राह्य फिर ध्यान प्रत्येकता का ध्यान ध्यान का परिपक्वता ध्यान बहुत करने पर दृढ़ होता है पहले पहले तो विक्षेप होता है वृत्ति प्रवाह नहीं होता है अभ्यास और विषय में वैराग्य भावना करके दीर्घ काल अभ्यास करने पर परिपक्व होता है उसके सामर्थ्य से चित्त अत्यंत स्वच्छ होता है अपहत रज तम मल से रजोगुण तमोगुण ये मल तम जितने जितने एकाग्र करेंगे ध्यान करेंगे इतने इतने रजगुण तमोगुण मल नष्ट होते हैं तो स्वच्छ होता है चित्त चित्त से चित्त रूप से चित्त सत्व गुण ये चित्त सत्व स्वच्छ होता है ऐसे जैसे स्वच्छ मणि के समान हो गया तब जिस विषय के साथ चित्त का संबंध जिस विषय को चिंतन करे तदाकार हो जाएगा या तदंजनता अर्थात तदाकारता सा समापत्ति ये समापत्ति है संप्रज्ञात समाधि संप्रज्ञात लक्षण योग योग संप्रज्ञात समाधि उच्यते तत्र ग्रहित ग्रहण ग्राह्य स्थिति सौत्र पाठक्रम अर्थक्रम विरोधा नादर्तव्य अर्थक्रम पाठक्रमाद बढ़िय मीमांसा में सूत्र अग्निहोत्र जुहोति यवागुम पचती ऐसे वाक्य है अग्निहोत्र हवन करे यवागु पकाए तो अग्निहोत्र हवन के लिए यवागु का पाक है पाक में तो कहा गया पहले अग्निहोत्र हवती हवती आगे यवाजुन पचती ये पाठक्रम के अर्थ अर्थक्रम बलवान होने से अर्थ प्रयोजन को लेकर के पहले यवायु का पाक होता है उसके पश्चात अग्निहोत्र हवन किया जाता है अर्थ कर्म पाठक्रमाद बलिय है व्याकरण में सूत्र में है स्थानीवद आदेशो नल विधि स्थानीवद आदेश अनल विधि अनल विधि में अल विधि में नहीं होगा अल विधि में तो किसी के अल लेना स्थानीय के अल लेना या आदेश के अल लेना है स्थानीय आदेश स्थानीय न तो स्थानीय अलाश्रय विधु स्थानीय पद दिया नहीं सूत्र में तो स्थानीय नहीं दिया स्थानीयगत आदेश आदेश स्थानीयगत क्या अनल विधु अल विधु न आदेश स्थानीयगत होगा अल विधि में नहीं होगा तो अल विधि जो अल लेना किस अल को लेना स्थानीय अल को लेना या आदेश अल को लेना वहाँ यदि पाठ्यक्रम में देखेंगे स्थानीयगत आदेश हो अनल विधु अनल विधि के पहले क्या है अनल विधि के पूर्व ठीक पूर्व ठीक पूर्व क्या है हाँ स्थानीवत है स्थानीवत आदेश हो अनलिधि के ठीक पूर्व में क्या पद है आदेश सन्निहित आदेश होने के कारण अनलिधि में सन्निहित आदेश पद का ग्रहण होना चाहिए जब कुछ आकांक्षा होती है तो किसका लेना है उसके पहले आदेश पद आया आदेश पदार्थ लेना चाहिए ये पाठक्रम लेंगे तो क्योंकि अनल वृद्धि की आकांक्षा की कि किसके लेना है उसके पूर्व में आदेश पद आया बुद्धि में उपस्थित है वही उपस्थित हो जाएगा किंतु अर्थक्रम बलवान होने से वहाँ स्थानीय के अल विधि में नहीं होगा आदेश के अल विधि नहीं स्थानीय के अल विधि नहीं न तो स्थानीय अड़ाश्रय बुद्धि स्थानीय के अल को आश्रय करके जो बुद्धि उसमें आदेश स्थानीयवत नहीं होगा ये आया स्थानीयवत आदेश हो सूत्र में रामाय राम क्या गे गे शब्द आया गे प्रत्यय गे रिह से यह हुआ वकार चतुर्थ कौन से यह हुआ अभी राम में अकार को दीर्घ करने के लिए कोई सूत्र है से तो क्या कहता है सुख पर हो तो ययादि कैसे होगा यह पर हो तो जो सुप है गे यह आदि है यह है यहाँ पता है और यह जो हुआ आदेश और तो यह के स्थान पर वो तो सुप नहीं यह तो यह आदि है किंतु सुप नहीं जो सुप है ये वो यह आदि नहीं ये फिर तो लगेगा तो जो आदेश हुआ क्या आदेश हुआ यह यह आदेश होगा यह जो होगी आदेश स्थानीय होते क्या स्थानीय इंगे स्थानीय में इंगे तो सुख तो है सुख तो धर्म यह में आ गया स्थानी सुख होने से यह भी सुख हो गया सुख होने के कारण यह आदि स्वतः है और सुप्त धर्म आया सुख जैसे दीर्घ होता है जैसे सुप्त धर्म आया गे सुख में आएगा अंगे प्रत्यय सुख में है सुख में कितने प्रत्यय आते हैं ठीक है सुख में गे भी आ गया सुख हो गया अब सुख में जैसे सुप्त धर्म गे का यह में ले आए कोई क्या गे में अजादी तो है नहीं ये आजादी प्रत्यय तो है आजादी है हलादी है हलादी में आजादी ये हकार ये हो जाएगा ये रहेगा तो आजादी तो धर्म में यह में आ जाएगा नहीं आएगा यह को आजादी कहेंगे एक तो धर्म आएगा खाने के अल ए उसको ले करके आजादी है तो पीछे दीर्घ नहीं होगा निषेध करने के लिए अजाद तो ले नहीं ला सकते सुप्त तो लाएंगे सुप्त क्या हुआ स्थानीय के अल को आश्रय करता है क्या स्थानीय ये इसके एक वर्णों को आश्रय करके सुप्त होता है सु और जस अम प्रत्यय समुदाय में सुप्त धर्म रहता है एक एक में सुप्त रह गया अल कुछ भी हो अचाद हो हलाद हो कोई भी हो सुप प्रत्याहार में जितने प्रत्याहार थे सब में रहेगा सुप्त अजादि हो तो सूत्र उसमें रहेगा फलादि हो तो तो एक वर्ण हो तो सुप्त रहेगा या अनेक वर्ण होने पर सुप्त रहेगा एक है या अनेक ता कितने बने एक है आ रहता है तो भी सुप्त है और ध्यान नीचा जाने का कोई सुप्त है तो स्थानीय आदि समय विधि में इसे न्याय लगाते हैं पाठ अर्थकर्म पाठक्रमाद बलिय अग्निहोत्र जुहोति यवाग पचती इसमें यवाग का पाक पहले होता है अग्निहोत्र हवन पश्चात होता है यद्यपि वेद में पहले आता है अग्निहोत्र जुहोति उसके बाद आता है यवागुम पचती ठीक इसी प्रकार यहाँ अर्थक्रम बलवान होने से अर्थक्रम लेना सूत्र में कहा ग्रहित ग्रहण ग्राह्यु जब चित्त तस्थ होकर तदाकार होगा फल चित्त ग्राह्याकार होना चाहिए ग्राह्य ज्ञेय को विषय करके चित्त में ग्राह्याकार प्रथम होगा ग्राह्य विषय को ग्रहण करने वाले ग्राह्य जो ज्ञेय वस्तु उसमें चित्त में तदाकार का होने के बाद फिर इंद्रिय में ध्यान करना पहले ग्रहिता इंद्रिय उसके बाद विषय नहीं पहले विषय को चिंतन कर पर ग्राह्याकार होगा उसके बाद इंद्रियाकार उसके बाद ग्रहित व्याकार ये क्रम होगा इसलिए दिया टीका में सौत्र पाठक्रम अर्थक्रम विरोधात नादर्थव्य पाठक्रम को नहीं लेना अर्थक्रम विरोध होता है ध्यान करेंगे तो पहले ध्याय अर्थ विषय का चिंतन होने के बाद फिर इंद्रिय इंद्रिय तो सूक्ष्म है उसके बाद ग्रहिता ग्रहिता विषय होगा एवं भाष्य की प्रथम भूत सूक्ष्म उपन्यासोपी अनादरणीय सर्व सर्वम भाष्य में क्या दिया ग्राह्य आकार ग्राह्य को चित्त ग्राह्य को दो प्रकार बताया सूक्ष्म और भूत जो स्थूलभूत में पहले स्थूलभूत आलम्बन होगा चित्त का पहले स्थूलभूत महाभूतों को विषय करके चित्त जो अध्ययन करके चित्त में सदाकार आ जाए तो सूक्ष्मभूत तन्मात्रा को ध्यान करना है नहीं कि पहले तन्मात्रा का ध्यान करें उसके बाद महाभूत ध्यान ध्यान जो करते पहले स्थूल आलम्बन का ध्यान होता है स्थूल आलम्बन में ध्यान करने के लिए सामर्थ्य आने पर सूक्ष्म आलम्बन इसलिए जब ध्यान करते आलम्बन स्थूल लेते हैं प्रतिमा आदि बाह्य आलम्बन लेकर ध्यान करते हैं उसमें सामर्थ्य आने के बाद फिर बुद्धि में अंदर देह के अंदर बुद्धि में अंतकरण में ध्यान करते हैं वहाँ जो अंतकरण में हृदय कमल है कमल से मुख्य है प्राणायाम करके चिंतन करके हम लोग ऊपर रखा पहले इष्ट देवता का चिंतन करते हैं तो अंतकरण में इष्ट देवता ऐसे है ऐसे करके चिंतन करते उसके बाद अलग आकार को छोड़ कर सूक्ष्म चिंतन में क्या जाता है तो पहले फूल आलम्बन में मन को लगा करके जब सामर्थ्य आ जाता है तब सूक्ष्म आलम्बन में मन को लगाते हैं इसलिए भाष्य में जो भूत सूक्ष्म परोत्तम पहले कहा उसके बाद तथा स्थूलालंबन परोत्तम कहा ये भी ने कहा इसी प्रकार बता दिया किंतु तो ध्यान करने वाले पहले स्थूल आलम्बन का ध्यान करेगा स्थूल आकार सिद्ध होने के बाद समर्थ होने के बाद फिर भूत सूक्ष्म तन्मात्रा का ध्यान करके तदाकार होता है इसी क्रम लेना इसे एवं भाष्य भी प्रथम भूत सूक्ष्म उपन्यासोपी अनादरणीय उसको नहीं लेना इति सर्वम रमणीयम वाचस्पति मिश्र कहते शोभनम आगे टीका में सामान्यतः समापत्ति रूपता ये समापत्ति ग्राह्याकारता ग्रहणाकारता ग्रहित्राकारता चित्त सदाकार हो जाएगा समापत्ति कही गई श्रेय अवांतर भेदा चतुर्विधा भवती तायम समापत्ति चार प्रकार अंतर्गत भेद है तब यथा सवितर का निर्वितर का सविचारा निर्विचारा जैसी कितने प्रकार हुआ तत्र सवितर्काया समापत्ति लक्षण आह सवितर्का वितर्केण सह सवितर्का और निर्वितर्क निर्गत वितर्क यथ यस्या सविचार विचार में सह और निर्विचार विचार तो पहले सवितर का समाप्ति का लक्षण सत्र सत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा सवितर का समापत्ति ही सत्र का तो तासु तासु Sama persitu, kaktisu, kaktirisisu, kintu sama persisin nih, katsu, ya? katsu sama persitu, kaktisu, ya? kaktirisu, kaktirisu, kaktirisu, kaktirisu, kaktirisu, kaktirisu, kaktirisu, kaktirisu, kaktirisu, kaktirisu, kaktirisu, kaktirisu, kaktirisu, kaktirisu, kaktirisu, kaktirisu, चतुर्थ श्रियाम तीसरे सप्तश्री सप्तश्री सप्तश्री तो अकार है तो अकार से तो होगा त्री चतुर्थ श्रियाम तीसरी सप्तश्री से समापत्ति से चार प्रकार समापत्ति होने अरे सभी तरह का समापत्ति पहले ही सवितर का संपत्ति क्या है शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्ण शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प से समापत्ति शब्द अर्थ और ज्ञान इन विकल्प से संकीर्ण मिला हुआ समापत्ति सवितर का समापत्ति है टीका ने ऐसा इसमें दिया है तत्र का तो समापत्तिशु सासु का क्या हुआ समापत्ति सु कितने समापत्ति है मध्य सवितर का समापत्ति प्रस्तव्य समझना चाहिए पहले दृष्टि कैसे सवितर का समापत्ति शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्ण ये लक्षण है शब्द से अर्थ से ज्ञानम च क्या समाप्त होगा द्वंद्व शब्दार्थ ज्ञानी तेषा विकल्प है श्रद्धा से ज्ञानाना विकल्प विकल्प है विकल्प किसको कहते हैं शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प उनका विकल्प है शब्द अर्थ ज्ञान का विकल्प कैसे विकल्प है वस्तु तो बिना नाम अपनी शब्दादी नाम अभ्यासाद विकल्प वस्तु तो भिन्न है परस्पर अभ्यास होकर के भिन्न में अभेद ज्ञान है विकल्प है भिन्न में अभेद विकल्प अभेद में भेद विकल्प पहले आया था विकल्प क्या उदाहरण आया था राहु सूर्य आए थे क्या अभेद में भेद हुआ अरे भेद में अभेद क्या है क्या गया था पुरुष से चैतन्य में आया था पुरुष से चैतन्य अभेद में भेद हुआ अरे भेद में गुरु से चैतन्य अभिन्न है वहाँ भेद विकल्प हुआ भेद में भेद हुआ भेद में अभेद है वो गौरित शब्द गौरित शब्द आया था चैत्र से इसमें क्या है भेद में अभेद गौ कहेंगे तो गौ शब्द और गौ अर्थ पता है कितना कुछ समय राहु से इत्यादि क्वचित अभेद भेद हो गया और क्वचित पुनर्भिन्ना नाम अभेद क्या दिया तो होती क्वचित पुनर्भिन्ना नाम अभेद तो भेद से अभेद से वस्तुत्व अभाव तथा हस विकल्प चैतन्य पुरुष से सदुपम ये अभेद में भेद विकल्प हो गया सांख्य मंत्र के अनुसार निष्क्रिय पुरुष कहा निष्क्रिय पुरुष जो कहा क्रिया अभाव विशेषण किया पुरुष का तो क्रिया अभाव कोई अलग नहीं है तो सांख्य मत के अनुसार भाव तो वहाँ भेद का आरोप किया गया अयपिंड हाँ, ये गुरुवय बहुत कुछ देने चलिए हाँ। अच्छा अरे पिंडम दक्षिण इत्यादि राहुल तिरानी घर हुए चार नगर कहाँ के घर अभेद भेदम आरोपयती तो क्वचित अभेद भेदम अभेद भेदम आरोपयती राहुल तिरधरे क्वचित पुनर्भिन्ना नाम अत्र दधृतम ब्रह्मनिष्ठम न लोहपिंडनिष्ठम स्वस्थम अयपिंडम अयपिंडम दधृत ब्रह्म में बद्र तो है लोक में नहीं है हाँ भेद में अभेद हो गया अयोध होती थी इसमें गुरु अयोध होती क्या कर दिया गुरु अयोध होती गुरु अयोध होती इसमें क्या है गुरु अयोध होती गुरु नपुंसक है ना नपुंसक गुरु अयोध होती गुरु के विशेषण कहीं प्रयोग गुरु वजन लोहा गुरु अयोधती है एक दे अयोधती है अयोधत में दर्शित तो में है भेद में अभेद आरोप हो गया ये विकल्प होगा यहाँ चल रहा है शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्ण शब्द अर्थ ज्ञान भिन्न है उन्हें विकल्प होकर के आरोप होकर के मिल जाता है संकीर्ण है कवितर का समापत्ति टीका में शब्द से अर्थ से ज्ञान तेषा विकल्प वस्तु तो भिन्ना नाम अपनी आदि नाम शब्द अलग है अर्थ अलग है ज्ञान अलग है घट ये शब्द है या अर्थ है बताओ लेखनी शब्द है अर्थ है शब्द ये क्या है लेखनी नहीं लेखनी शब्द है अर्थ है जो उच्चारण करते तो शब्द है इसको भी लेखन शब्द को लेखनी कहते हैं इसको भी अर्थ को भी लेखनी कहते हैं इसका ज्ञान हुआ सबको कैसे ज्ञान हुआ लेखन ज्ञान घट को देखा घट शब्द उच्चारण किया और अर्थ भी घट है ज्ञान जो है घट ज्ञान ही तो ज्ञान ज्ञान को भी घट शब्द से कहेंगे घटित तो ज्ञान हुआ हमको किम ज्ञान हम जाता हूँ घट घटित तो ज्ञान घटित शब्द घटित अर्थ अर्थ को भी घट कहेंगे शब्द को भी घट कहते और ज्ञान भी घट तीन शब्द अर्थ ज्ञान ये एक घट कह करके इस भाषा में गौरीति शब्द गौ ये शब्द है अर्थ है अर्थ नहीं गौ अर्थ भी हाँ इसी का गौरीति अर्थ भी अर्थ भी भी गौ है इसका ये गौ इसी ये अर्थ है गौ ये शब्द है गौ ये अर्थ है गौ इसी ज्ञान ये हाँ, है ठीक है इसका उद्देश्य इतरतर अभ्यास विकल्प एक भेद भेदम आदर्श भिन्न से अभेदम अभेद में भेद और भिन्न में अभेद ये विकल्प है तेन शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा संकीर्णा से मिश्रा मिश्रित तदा गौरी शब्द गौरी उपात उपात्तयो अर्थ ज्ञानयो गौ इस प्रकार ग्रहण किया गया अर्थ और ज्ञान अभेद विकल्प दर्शित शब्द गौ शब्द गौरित अर्थ और ज्ञान गौ इस प्रकार अर्थ भी ज्ञान दोनों ग्रहण हुआ गौरी शब्द भी कहा शब्द का अभेद ये विकल्प दिखा गौरित अर्थ गौरित अर्थ भाष्य में आया तथा गौरित शब्दों गौरित अर्थ गौरित ज्ञान इत है ना बिकॉज विभक्ता नाम अपनी ग्रहण दृष्टम अलग अलग का भी ग्रहण होता है विभक्ता नाम की ग्रहण बिकॉज गौरती गौरती शब्द ज्ञान अर्थ दोनों का भी ग्रहण होता है गौरती शब्द है गौ और गौरती अर्थ की ज्ञान तो पहले जो गौरती शब्द का है गौ शब्द से अर्थ और ज्ञान ग्रहण होता है उनके साथ अवैध हो गया की शब्द गौर के अर्थ जो कहा गौ शब्द से गौर की शब्द ज्ञान दोनों का अर्थ अवैध है विकल्प दिखाया गौर के अर्थ गौर के ज्ञान गौ इससे ग्रहण होता है शब्द और अर्थ उसमें ज्ञान का अभेद दिखाया गौर का ज्ञान शब्द के साथ अर्थ के साथ ज्ञान का अभेद दिखाया पहला गौरी शब्द ये किसके साथ अवैध दिखाया अर्थ और ज्ञान के साथ शब्द का गौरी से अर्थ है शब्द और ज्ञान के साथ अर्थ का भेद गौरी से ज्ञान शब्द अर्थ के साथ ज्ञान का भेद दिखाया ये भिन्न में अभेद दिखाया शब्दार्थ और ज्ञानाभेद विकल्प दर्शित गौरी पात तदेव न विभक्ता नाम शब्दार्थ ज्ञाना ग्रहण लोक द्रष्टव्य विभक्त पृथक थे शब्द अर्थ ज्ञान शब्द अलग अर्थ अलग शब्द सूर्यमान अर्थ दृश्यमान गृहमान अर्थ होता है आकार आदि है डाला और ज्ञान होता है अलग तो भी भिन्न भिन्न का भी एक गौरती कौन से अविभागन ग्रहण हुआ अविभागन विभक्ता नाम ग्रहण होता है यदि अविभागन ग्रहण कुतस्तरी विभाग यदि अविभाग एक न गौर से ग्रहण हो गया शब्द अर्थ ज्ञान तो विभाग कैसे होगा इतना आगे भिन्न भी होता है भाष्य में विभक्ता नाम अभिभाग ग्रहण तो होता है माना अन्य शब्द धर्म अन्य अर्थ धर्म अन्य विज्ञान धर्म पृथक पृथक देखेंगे शब्द का धर्म है शब्द का धर्म अलग वर्णात्मक है शब्द वर्णात्मकता तत्वकता आदि शब्द धर्म है अर्थ धर्म भिन्न है काठिन्य है गुरु है लघु है अनु है महत्व है ये सब अर्थ धर्म और अन्य विज्ञान धर्म विज्ञान धर्म उसमें कोई निरवयत्व दिख संबंध अभाव कुछ नहीं विज्ञान ज्ञान में कोई अवयव नहीं ये तो विज्ञान धर्म निरवयत्व आदि इतना ऐसा विभक्त पंथा विभक्त पंथा मार्ग है स्वरूप अवधारण का मार्ग भिन्न भिन्न स्वरूप नित्य करने के लिए मार्ग है अलग अलग है गौ इसी कह करके शब्द अर्थ ज्ञान का तो ग्रहण हुआ भिन्न करेंगे तो शब्द धर्म अलग अर्थ धर्म अलग ज्ञान धर्म अलग है इसी प्रकार भेद में अभेद का विकल्प अभेद में भेद विकल्प होता है ठीक है विभज्यमान अन्य व्यक्ति काभ्याम परिचय अन्य व्यतिरिक्तता दिखाएंगे जहाँ ऐसे शब्द धर्म है वो तो शब्द अलग है अर्थ नहीं जहाँ अर्थ धर्म काठिन्य आदि है वो शब्द है ज्ञान है हाँ सुनना चाहिए बोलते समय हिसाब करते रहे तो क्या समझ आएगा जिस पंक्ति में कितने अक्षर है और मोबाइल का क्या कीमत है <laughs> एक चीज के हिसाब करना पड़ता है ना और कितने रुपया हो ये चलता है हिसाब करने से क्या समझ आएगा में आदि धर्म शब्द का या ज्ञान का है हाँ, दोनों में क्रम है में ज्ञान में या शब्द रहता है बोलो है अर्थ में अभी तो ज्ञान नहीं आया में आदि धर्म किसका और निरवय तो धर्म किसका है अच्छा। शब्द का धर्म क्या है वर्णात्मक तो तत्व सत्व आदि धर्म ये परिचय कर विवाह करके अन्य व्यक्ति के द्वारा निश्चय करते शब्द धर्म ध्वनि परिणाम मात्र से शब्द से शब्द में धर्म है उदात्त अनुदात आदि अब अर्थ में है नहीं नहीं शब्द से उदात्तादेव धर्म अन्य अर्थस्य जड़त्व मूर्त स्वादेय जड़त्व मूर्त स्वादि धर्म अर्थ में अन्य प्रकाश मूर्ति विरादेय ज्ञान से धर्म प्रकाश ज्ञान का धर्म और दूसरा धर्म क्या है मूर्ति नहीं मूर्ति विरह ज्ञान का क्या धर्म है मूर्ति विरह यह आदि ज्ञान का धर्म है तस्मादेशता विभक्त पंथा देहत्व बनता है क्या स्वरूप भेद उन्नयन मार्ग स्वरूप भेद निश्चय करने का निर्धारण का मार्ग है नाश्य सत्र समापन से योगिनो योग योगवाद्यर्थ समाधि प्रज्ञान समारोह सत्य शब्दार्थ ज्ञान विकल्पानुविध उपावर्तते संकीर्ण समापत्ति सवितर का उच्यते तत्र समापन से इसमें शब्द अर्थ ज्ञान तीन प्रकार ऐसे समापन चित्त सदाकर होने पर ध्यान करने पर शब्दाकार अर्थाकार ज्ञानाकार एक समापन प्रयोजन ये गवाद अर्थ समाधि प्रज्ञा समार्ग समाधि कारण जो प्रज्ञा बुद्धि है उसमें गो आदि अर्थ आर्ग हो जाता है बुद्धि गवाकार गवाद अर्थाकार होता है जब गवाद अर्थाकार ज्ञान हुआ यदि ज्ञान होते समय शब्दार्थ ज्ञान विकल्प से युक्त है घट का चिंतन करते करते घट अर्थ चिंतन करते है ज्ञान करते करते किसी ज्ञान करते उसमें शब्द भी अर्थ भी ज्ञान घट शब्द है घट अर्थ है ये यदि बुद्धि में आया बुद्धि समापन समाधि करते समय शब्द भी अलग अर्थ भी अलग ज्ञान ये युक्त हो गया तो समाधि को सभी तरह का समाधि कहेंगे जिस समाधि में शब्द अर्थ ज्ञान का ज्ञानों का विकल्प युक्त होता है चित्त में चित्त में शब्द भी अर्थ भी ज्ञान भी उनका संबंध रहता है तो समापत्ति समाधि को सभी तरह का समाप्ति कही जाएगी टीका में भाषण में पहला है गवादि अर्थ समाधि प्रज्ञान समारोह गोवादि अर्थ विषय के लिए समाधि करने पर समाधि अर्थ आरूढ़ हुआ अर्थाकार हो गई चित्त चित्त हो गया वो जो अर्थ है सबसे शब्दार्थ ज्ञान विकल्प से युक्त है तब तो उसको संकीर्णा समापत्ति तरह कहते हैं शब्दार्थ ज्ञान युक्त होने के कारण मिश्रित हो गया ठीक है तत्र विकल्पित गवादि अर्थ तत्र समापन से विकल्पित गवाद्य अर्थ में समापन से चित्त समापन समाधि होने पर तदन योगिनो अपरम प्रत्यक्ष उत्तम योगी का प्रत्यक्ष होता है गवाद्य अर्थ चित्त में समाधि प्रज्ञा में समारोह हुआ समाधि बुद्धि में गवाद्य अर्थ जो आरूढ़ हुआ योगी का एक प्रत्यक्ष है किंतु अपर प्रत्यक्ष परम प्रत्यक्ष में आगे सूत्र में कहे आगे कहेंगे ये प्रत्यक्ष शेष सुगम तो हो समापत्ति को सवितर का समापत्ति कहेंगे और निर्वितर का समापत्ति कहने के लिए पहले निर्वितर का शब्द की व्याख्या भरे करते हैं ठीक है सूत्रम योजयितुम योजयितुम प्रथमतः स्थाव निर्वितर काम व्याचस्ते आगे सभी तर्क समापत्ति के बाद क्या समापत्ति है निर्वितर्क निर्वितर्क समापत्ति के लिए क्या आगे सूत्र है सूत्र को अन्य करके अर्थ बताने के लिए पहले निर्वितर्क का व्याख्यान करते हैं का अर्थ समझने पर का समापत्ति ओम